और जिस तरह ये लोग हमारे नबी से दुश्मनी कर रहे हैं उसी तरह हमने हर पिछले नबी के लिए कोई ना कोई दुश्मन पैदा किया था यानी इंसानों और जिन्नात में से शैतान किस्म के लोग जो धोखा देने की खातिर एक दूसरे को बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते रहते थे और अगर अल्लाह चाहता तो वह ऐसा ना कर सकते लिहाजा इनको अपनी इफ्तरा परदाजियों में पड़ा रहने दो तो।